क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो चीज़ भी पैदा की है उसके साए अल्लाह को सजदे करते हुए दाएं और बाएं झुके रहते हैं और वो सब आजजी का इजहार कर रहे होते हैं